तब तो नारियां बधाएगा उत्सव को शोभित करते थे मंगलाचार के गीतों से घर भर को प्रमुदित करती अब की नारियां सीठने काम अब की नारियां सीठने काम उत्सव के लिए लजाती हैं अपने भी हंसी कराती हैं घर की भी हंसी कराती हैं कितने भद्दे कितने गंदे कितने पवित्र प्रथा है क्या जाने क्यों घर के भीतर अश्लील विनोद चला है अनसुया एवं गार्गी के सारी संपत्ति खो रही है हाँ सरस्वती के पुजारी ने कितनी मतहीन हो रही है माताओं काम समझते लो सौगंध आज से खाओ तुम गालियों सठीनों का रिवाज गालियों सीठनों की रिवाज जैसे भी हटे हटाओ तुम जिस विवाह का आज भी है हम में उत्साह सब प्रकार से हुआ है वह आदर्श विवाह पूर्ण हुआ बड़हार का जभी राजसी भोग चले मान पान ले जनवा से सब लोग अगले दिन होने लगा कंकण रीत विधान गाने लगी विनोदनी तब विनोद का गान आवो कंगना खिलावो रे आवो कंगना खिलाओ रे मोद मंगल मनाउरी आवो कंगना खिलाओ रे मोद मंगल मनाउरी थाल में नीर भरवाओ सुख पाओ रे गांठ कंगने की लवाओ सुख पाओ री हरस हरस रहस रहस बिहस बिहस वारे जाओ रे अवध बिहारे धनुष तुमने तोड़ डाला है जनक दुलारी का न खुलने वाला है यह रण निराला है सहजन लाला है प्रबल से पाला है उट्टान हो जाए बट्टान लग जाए रघुवंश की शान में बान में मिल सारी सजनी धावो होके सहाय उन्हें जिताओ बन पहुँचाओ शक्ति लगाओ फन को छुड़वाओ री आओ कंगना खिलाओ री मोद मंगल मनाओ री थाल में नीर भरवाओ सुख पाओ रे गांठ कंगने की खुलवाओ सुख पाओ री सुख पाहुरी मोद मंगल मनाओरी इस प्रकार आनंद से हुए सभी व्यवहार नित्य नए रस रंग थे नित्य नई द्योनार चर्चा जब जब विदा की करते कौशलनाथ तब तप ठहराते जनक नवा नवा कर्मा आखिर निश्चित हो गया एक सुदिन सुभवार पल का टीका आदि सब यथा व्यवहार उधर भिदा को महल में पहुँचे अवध किशोर मिथिला नगरी में हुआ कोलाहल जा जब सुनो विदा उमड़े मिथिला घर घर में फैली चला चली जब सुनो मेधा उमड़ी मिथिला घर घर में फैली चला चली जान के चली मांडवी चली सतकृति चली उर्मिला चली जब सुने विदा उमड़ी मिथिला घर घर में फैली चली चली घर घर में फैली चला चली प्रत्येक भवन यह कहता था प्रत्येक भवन यह कहता था शोभा सुषमा संपदा चले रवि छटा चले शशिकला चली घन घटा चली द्रुमलता चले रवि छटा चले शशिकला चले घन घटा चले द्रुमलता चली जब सुनी विदा उमड़ी मिथिला घर घर में फैली चला चली करुणा के संग करुणामय हो कुछ ऐसी करुणा कथा चले सीता का तोता तड़प उठा सीता का तोता तड़प उठा मैना भी बोली नैना चली जब सुने विदा उमड़ी मिथिला घर घर में फैले चला चले जान के चले मांडवी चली सतकृति चली उर्मिला चली चंद्रमा चाल भोला अपने तारावल भे तिल मिला चले आ चंद्रमा चला चंद्रमा चाल भूलाय अपनी तारावल भे तिल मिला चले बारात में फैली चला चले बारात में फैली चला चले देखो से उल्टी हवा चले देखो से उल्टी हवा चली जब सुनी विदा उमड़ी मिथिला घर घर में फैले चला चली जान के चले मांडवे चले सुतकीर्ति चले उर्मिला चली जब सुनी विदा उमड़ी मिथिला घर घर में फैले चला चले घर घर में फैले चला चले चला चले के समय जब व्याकुल था रनिवास माँ के प्यारे लाल ले आई माँ के पास निपट मात के हृदय से बोली सीता बहन बिछुड़न वाले नीर से भरे हुए हैं नैन माँ मेरी मुझसे छुटती है मैं कैसे धरूंगी माँ मेरी मुझसे छुटती है करूं धीर जिसने सुखे मुझे सुलाया सारा काम काज सिखलाया वह जननी मुझसे छुटती है मैं कैसे धरूं धीर मैं कैसे मुझसे छुटती है माँ मेरी मुझसे छुटती है मैं कैसे धरू धीर जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया नारी धर्म सब सिखलाया जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया नारी धर्म सभी सिखलाया हा यही मुझसे छुटती है मैं कैसे धरू धीर माँ मेरी मुझसे छुटती है माँ मेरी मुझसे छुटती है मैं कैसे धरू धीर मैं कैसे धरू धीर मैं कैसे धरू धीर उन्हें स्वरों में सजल हो बोल उठे वह मात कहीं विदा के समय भी कुछ शिक्षा की बात नारो मेरी लाड़ रे नारो मेरी लाड़ली नैनों से भरे नीर जाओ पूजा करियो श्वास ससुर की सेवा करियो यह सीखो मेरी लाडली धारण कर में धीर नारो मेरी लाडली दुख अपने सिर पर सहियो दुख अपने सिर पर सहियो औरों को सुख पहुँचाइयो यो रहियो मेरी लाडली होकर उदार गंभीर होकर उदार गंभीर नारो मेरी लाडली नारो मेरी लाडली नैनों से भरी नी की पूजा करियो सास ससुर की सेवा लाडली नारो मेरी लाडली माँ बेटी में जिस समय होते थे यह बहन विदा है तो आए तभी राघव करुणा ऐन देख राम को और भी द्रवित हो उठी मात समझ प्राण समपुत्र सम कही हृदय की बात कही हृदय की बात